सुनी एक राजा की बहुत बड़ी रानियां थी जब वो विदेश के संदेश भेजा उसने कि जिस रानी को जो चाहिए वो लिख कर भेजे मैं उसकी मांगी भी थी लेके आऊंगा सब रानियों ने अपने अपने मन की वस्तु लिखी एक रानी ने अपने पद समय सिर्फ एक ही संख्या लिखी और सत्र राजा सबकी मांग पूरी करने के लिए सब वस्तुएं लेकर विदेश के लौटा उन उन गाड़ियों के घर में भेज दिया और जिसने एक देखा था उसके घर में वो स्वयं गया और उसने पूछा कि एक कार मेरी पहुंच में किया है रानी बोली की मुझे जो चाहिए था वो मिल गया मुझे एक आपसे और कोई वस्तु आपसे जब हम देखते हैं कि श्री कृष्ण सुख शहर मथुरा में द्वारका के महल में सो रहे महाराजा दुर्योधन आके उनके बैठ बैठकर अच्छे सिंहासन पर अर्जुन आते हैं वो भगवान के चरणों की ओर बैठ जाते हैं नीचे कृष्ण उठे हैं सर्वस्व देखते हैं विनीत पर विनयी पर भगवान की दृष्टि चले करती है दुर्योधन ने कहा मैं पहले से आके बैठा हूँ बहुत बढ़िया तुम पहले से आके बैठे हो ठीक परंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा है क्या अर्जुन का है दुर्योधन और अर्जुन दोनों में महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव युद्ध में श्री कृष्ण की सहायता की मांग की श्री कृष्ण ने कहा मैंने पहले अर्जुन को देखा है और ये दुर्योधन तुलसी छोटा भी है इसलिए पहले इसको मांगे एक और मैं रहूंगा अकेला बिना अस्त्र शस्त्र का और एक और हमारे यादव वीरों के साथ पूरी एक में सेना है अर्जुन तुम्हें दोनों में क्या पसंद अर्जुन ने कहा मुझे अकेले आप पसंद है मेरी और आप बिना अस्त्र शस्त्र के रहिए दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता थी बोला हमको तो एक में सेना और इतने ज्यादा भीड़ मिल रहे हैं अर्जुन भी प्रसन्न हो गया उसको श्री कृष्ण गए और दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया उसको वीरों वाली सेना मिल गई यही से यही से शरणागति प्रारंभ हो सकती है अर्जुन ने अकेले श्री कृष्ण को वर्ण किया और जब युद्ध प्रारंभ होने का समय आया बिना अस्त्र शस्त्र के रहोगे ना आपका तो हमारे रथ के सारथी हो जाए सारथी का होता है जो घोड़ों का रथ का संचालन करता है सारे की किसी सारथी वेद में मंत्र है तो सारथी अश्वान से वाहु से संकल्प सूक्ष्म में सारस के रूप में वर्णन है तो ये जीवन एक रथ है और बुद्धि सारथी है और बुद्धि में बैठे हुए बुद्धि के अधिष्ठाता श्री कृष्ण शरण है शरण साधो शरण है जो शरणागति की रक्षा में संपूर्ण रूप से तत्पर है उसको शरण कहते हैं ये है एक श्री कृष्ण की लीला जो एक सेवक की तरह एक नौकर की तरह अर्जुन के रथ का संचालन करते हैं रथ का नहीं उसके जीवन को दिशा देते हैं बाद में कहा बुद्ध शरण कृपणा बुद्धि की शरण बुद्धि को प्रारक्षण गच्छी का कहना है ये बुद्धि ही सारथी पहले हम किसी वस्तु के औचित्य को श्रेष्ठता को उपयोगिता को बुद्धि से समझते हैं ज्यादा फिर मन से उसको पाने की इच्छा करते हैं इच्छा नहीं और उसके बाद हम इंद्रियों से उसको करना चाहते हैं करो जाना भी करोगे ये विद्वानों के द्वारा मानव तो बुद्धि कारसिक है और बुद्धि में बैठे हुए जियो योना प्रचोदया हमारी बुद्धि का जो प्रेरक है वो अंतर्यामी श्री कृष्ण है जब जीवन रथ की बागलोर घोड़ों का संचालन रथ का संचालन श्री कृष्ण के हाथों में समर्पित हुआ तो ये भी शरणागत हो गई पहले हुआ वरण अनंत एक श्री कृष्ण का वरण सेना होनी चाहिए वीर बहादुर होने चाहिए श्री कृष्ण को दूसरी शरणागति हुई कि हमारे जीवन रथ के संचालक श्री कृष्ण वैसे रथी बड़ा होता है मालिक होता है और सारथी उसका आज्ञाकारी होता है अर्जुन के मन में ये शंका उसी की नहीं होती ये तो मैं नहीं कर सकता परंतु जो घटना घटित हुई वो ऐसी हुई कि श्री कृष्ण सच्चे सारथी है कि नहीं और वो इस तरह हुई कि अर्जुन ने युद्ध के आरंभ में ही आज्ञा की सेनयो रथम स्थान में एक क्षेत्र मेरा रथ दोनों सेना के बीच में स्थापित कर श्री कृष्ण ने अर्जुन की आज्ञा तुरंत मान ली ये है एक भगवान की करुणा भगवान का स्वास्थ्य कांची में एक मंदिर है नारायण का राजा की ओर से उसकी पूजा होती थी पुजारी ब्राह्मण का प्रसाद का एक महात्मा का भक्त भी था एक दिन राजा पुजारी पर रुष्ट हो गए उन्होंने कहा तुम चले जाओ हमारा राज्य छोड़ पुजारी महात्मा के पास गया महात्मा जी मुझे राजा ने निकाल दिया मैं जा रहा हूँ महात्मा जी ने कहा बेटा तुम्ही तो मेरी सेवा शुश्रूषा करते थे और पानी पिलाते थे रोटी खिलाते थे अब तुम यहाँ से जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ जब चलने लगे तो बोले चलो भगवान से बात तो कर ले नारायण के पास गए और नारायण ये नगर छोड़ के जाने नारायण ने कहा कि महात्मा जी हम तो महात्माओं के साथ साथ रहते हैं तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ कैसे रहूंगा तो मैं भी चलता हूँ तो उन्होंने अपनी शेष विद्या लपेट ली और साथ कहीं से दिला दिया महात्मा जी का महात्मा के साथ के नीचे पुजारी की सामग्री पुजारी के काम से नीचे आगे आगे पुजारी पीछे पीछे महात्मा और महात्मा के पीछे पीछे नारायण नगर में अंधकार हो गए राजा को मालूम पड़ा दौड़े दौड़े आए भगवान के चरणों में गिरे प्रभु आप मत जाइए नारायण बोले कि जब महात्मा जा रहा है तो मैं यहाँ कहते रहूंगा इसको मनाओ महात्मा के पास राजा गए तो महात्मा ने कहा कि हमारा सेवक जा रहा है तो मैं यहाँ कैसे रहूंगा अंत में उन्होंने सेवक को बना लिया सेवक लौटा महात्मा लौटे भगवान भी पहुंच तो भगवान ने अपनी शेष सज्जा जो कांच के नीचे समेट लिए थे उसको फिर से दिखाया दिखाया तो शेष का मुंह उल्टा हो गया उल्टा हो गया तो उस मंदिर में अभी नारायण को है शेष सज्जा पर शेष जी का मुंह जो सत्र के रूप में है छाया करना चाहिए नारायण के ऊपर वो बिल्कुल उल्टा है तो तमिल भाषा में उसको क्या कहते हैं वो तो उसको मालूम नहीं है पर संस्कृत में उसको जपोक्तकारी भगवान कहते हैं महात्मा ने कहा कि हमारे साथ चलो तो चल पड़े और महात्मा ने कहा कि रह जाओ तो रह गए तो ये जो अपना अभिमान छोड़कर अपने सेवक की आज्ञा के अनुसार चलना है ये भगवान की एक विशेषता है आश्रित कार्य तत्व इसको बोलते हैं जिसने हमारी शरण ली है जो हमारी शरण में आया है उसका काम बना देना यथोक्त कार्य भगवान अर्जुन ने कहा सेनयोर उभयोर मध्य प्रथम स्थापय और श्री कृष्ण ने कहा जो आज्ञा मालिक आपकी आज्ञा सेवक बन के भी भगवान जीव का कल्याण कर रहे हैं और जो नर है श्री कृष्ण नारायण है महाभारत में आया सत्वम एकम स्थित स्थितम सत्ता एक है और वो दो रूप में स्थित है जीव और ईश्वर और जो नर है जीव है और श्री कृष्ण नारायण है भगवान है परमेश्वर बड़े का बड़प्पन अपने बड़प्पन के विज्ञापन में नहीं है वो जितनी सेवा करता है इसमें उसका बड़प्पन है श्री विजय बाबा जी महाराज कहते थे सबसे बड़ा सेवक सृष्टि में ईश्वर सबको बुद्धि देना सबको शक्ति देना सबको प्रेरणा देना सबको खाना पीना देना पालन पोषण करना घर को सारी सेवा तो ईश्वर करता है और ईश्वर की ईश्वरता उसी में है कि वो सबसे बड़ा सेवक है तो आश्रित जो अर्जुन है उसके साथ निर्वाह के रूप में श्री कृष्ण असल में नर नर होते ही तब है जब वो नारायण को अपना सारथी बनाता है जब तक नारायण सारथी नहीं हुए तब तक नर के नर होने में भी संदेह है नर तो वही है जिसके कारक स्वयं नारायण है तो पहली शरणागति हुई अनन्य वर्ण के रूप और दूसरी शरणागति हुई सारथ के संपूर्ण रूप को अभिव्यक्ति देने में भगवान जिसके सारथी बनते हैं सच्चे सारथी बनते हैं सच्चे सेवक बनते हैं जब हम अर्जुन की विशेषताओं पर ध्यान देते हैं अद्भुत है वो तो अर्जुन को कहते हैं कि इनमें राज्य गोविंद किम हो गई जीवित मैं राज्य लेकर क्या करूंगा मैं भोग लेकर क्या करूंगा मैं जी कर क्या करूंगा मैं अपने लिए युद्ध भूमि में नहीं आया हूँ जैसा मर्थे कांक्षितम राज्यम भोगा दिखानी चाहिए तय स्थिता युद्ध प्राणा चक्षुआ बनानी चाहिए मैं जिनकी भलाई के लिए जिनके हित के लिए राज्य चाहता हूँ वे तो अपने प्राण और धन का परित्याग करके युद्ध भूमि में मरने के लिए तैयार हैं कि जब वही नहीं रहेंगे तो राज्य लेकर क्या करूंगा हमें तो इनकी रक्षा चाहिए इनका हित चाहिए दुर्योधन की दृष्टि ठीक इसके विपरीत है मदर पे त्यक्त जीविता मेरे लिए ये मरने को तैयार है युद्ध दुर्योधन समझता है कि मेरे लिए मेरे स्वार्थ के लिए और अर्जुन की समझ है कि युद्ध लोक कल्याण के लिए है परंतु युद्ध से तो कोई लोक कल्याण होता हुआ दिखता है जब मन में दुविधा हुई दुविधा हुई और ऐसी प्रबल दुविधा हुई कि विसृज्य सरल शापम शोक समृद्ध मानता धनुष्पात फेंक दिया अर्जुन ने और जो खड़ा था उसकी जगह पर बैठ गया और भगवान के प्रति जो अर्जुन का प्रेम था वो तो अनंत वरण में प्रकट हुआ और भगवान का जो सारथित्व था वो नित्य के आरंभ में प्रकट हुआ परंतु अर्जुन ने अपनी बुद्धि के स्थान पर भगवान को सारथी बनाया है कि नहीं इसकी अभिव्यक्ति भी तो होनी ये भी जाहिर होना चाहिए कि सचमुच अर्जुन अपने शरीर में रहने वाली बुद्धि को बुद्धि नहीं मानता श्री कृष्ण को अपनी बुद्धि मानता है आदमी के बोलने में चलने में हंसने में साधारण बात करने में भी जाहिर जाता है कि इसका पक्षपात कहाँ है इसका झुकाव कहाँ है ये किसको टेढ़ी नजर से देखता है और किसको प्रेम भरी नजर से देखता है इसके बारे में कैसे बोलता है साफ हो जाता है अर्जुन अपनी निर्बलता को कमजोरी को स्वीकार करता है दया स्वीकार करता है ये भी एक शरणागति का अंग है अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासो गोपतृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप करने सर्वदा शरणागति ये शरणागति का जो अंग है कारपण्य उसको लोग अंतर से स्वीकृति रह देते हैं अर्जुन सच्चा शरणागत है और बोलता है कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव हमारा जो स्वभाव है क्षत्रियत्व वो कार्पण्य के दोष से बहुत हो गया है घायल हो गया है चोट खा गया श्री कृष्ण ने डांटा था वास्तविक थी सम तथा कृपया विष्टम संजय का कहना है कि अर्जुन के हृदय में लोगों के प्रति कृपा का उदय हुआ श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन कुतस्वा का स्मरण अकारण ही ये निर्बलता तेरे हृदय में आ गई कलेज्यम महात्मगम पात्र हरित क्षत्रिय हो ये तुम्हारा मिथ्या व्यवसाय है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा जदहंकार आश्रित्य न योग्य मन से मिथ्य व्यवसाय से प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति स्वभावदेन कौंतेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेक्षति जन्मवान भविष्य के वसों की तक सचमुच अर्जुन का जो स्वभाव है वो इस समय निरोग नहीं है स्वच्छ नहीं है क्यों तो मन में पहले तो दुर्धाय और फिर धनुष बाण फेंक ये धनुष बाण फेंक देना स्वस्थ चित्त का लक्षण है भगवान को अपना सारथी बनाकर युद्ध भूमि में लाकर और भगवान से संत बजवा और उसके बाद कहना कि मैं युद्ध नहीं करूँगा ये तो अर्जुन के स्वयं सावधान होने की बात थी जब उत्तर को लेकर गोहरण के प्रसंग में उत्तर बने रथी और अर्जुन बना बृहंगला के रूप में सारथी और वहाँ उत्तर भागने लग गया करते है अरे बाबा मैं भीष्म द्रोण के सामने नहीं लड़ूंगा तो अर्जुन ने पकड़ के उत्तर को रथ में बांध दिया और बोलेगे लड़ोगे तो लो तुम नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा और अकेले अर्जुन ने भीष्म द्रोण कर सबको पराजित कर दिया रथी की जगह पर स्वयं बैठ गया तो अर्जुन को उस समय से ये ध्यान था कि जब मैं सारथी होकर आया तो बीस द्रोण कर इनके सामने उत्तर को भागने नहीं दूंगा मैं युद्ध करके इसको विजयी बनाऊंगा और जब श्री कृष्ण सारथी सारथी हुए तो उनकी प्रतिष्ठा का कोई ध्यान ही नहीं तो जैसे झूले में बैठा हुआ आदमी आगे पीछे हुए वैसे अर्जुन की बुद्धि आंदोलित होने लगी पर मंगल ये था कि उसको अपनी कमजोरी का पता चल रहा था कार्पण्य को तो स्वभाव गृहवर ने कुमेश्वर में कहा कि गार्गी जो अक्षर तत्व को जाने बिना मर जाता है वो कृपण उसका नाम कृपण होता है कृपण क्यों कहा कि वो दुनिया को इतना पकड़ के बैठा हुआ है कि उसको परमात्मा के ज्ञान के लिए कोई शुभ अवसर ही जीवन में प्राप्त नहीं हुआ जो गार्गी एक तदक्षरम अभिदित्व अस्मान लोकात प्रति कृपण और कृपण का जो भाव है कृपण भाव कारण्यम अरे तुम तो ये सगे संबंधियों के चक्कर में गिर पड़े हो ये हमारे ताऊ में ये चाचा में ये भाई हैं ये बंधु हैं ये रिश्तेदार हैं ये नातेदार हैं इतने जोर से दुनिया को पकड़े हुए हो कि छोड़ने को तैयार नहीं हो जरा अपने मोह को तो देखो अर्जुन ने ये बात तो बिना कहे ही देख ली थी हाँ हमारे अंदर कारपणी आ गया है मैं सभी संबंधियों को छोड़ने में अपने को समर्थ नहीं पा रहा हूँ दूसरी बात थी धर्म सम्मूल चेता मेरा धर्म क्या है युद्ध करना कि न करना हमको तो ऐसा लगता है श्रेयो भोक्तों भयक्षिम अभी है यदि मैं इच्छा मांग के भी इस जीवन का निर्वाह कर लो और दुख न हो तो वो कल्याणकारी होगा नारायण और धर्मयादि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रिय से नविद्यते बाबा क्षत्रिय के लिए एक योद्धा के लिए धर्म की रक्षा करने के लिए जो अग्रसर हो चुका है उसका पीछे हटना तो ठीक नहीं हो आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं काम प्रदान का काला जाके समझे दुश्मन बैठे ताकि जीवन को दिखा तो अर्जुन कहता है मारे मन में दोनों बात हमारे लिए प्रवृत्ति धर्म ठीक है ये धर्म ठीक है अब आप देखो एक का वरण और सारथी के की सत्यता की अभिव्यक्ति लोक कल्याण की चुक्ति श्रेष्ठ का अनुसंधान न चैतन विदमहा कतरन नो गरियो ठीक ठीक अर्जुन बोल रहे महाराज धर्म के निर्णय में भी मैं असमर्थ हो गया और हमारा स्वभाव भी विपरीत हो गया और वही जो अनन्य वरण था श्री कृष्ण का वो प्रकट हुआ शिष्य से हम साधुनाम स्वम साधुनाम स्वम प्रपन्नम साधुनाम स्वाम प्रपन्नम स्वा प्रपन्नम कहीं पाठ है स्वा प्रपन्नम भी है कहीं स्वाम प्रपन्नम भी है कहीं साधुनाम स्वाम प्रपन्नम माम स्वम साधु गीता पर सभी प्रकार के लोगों में टीका हैं सब संप्रदाय के टीका मिलते हैं कश्मीरी शैवों के भी टीका अभिनव गुप्त की है राजानक की है आनंद वर्धनाचार्य की है जो बड़े बारूस साहब दुनिया लोक वाले आनंद वर्धनाचार्य उनकी टीका है गीता जब श्रेयस्याम निश्चितम भूमि में ये बुद्धि की शरणागति हुई हो शिष्य साधु नाम स्वाम प्रसन्न मैंने तुम्हारे पाँव पकड़ लिए प्रबंधन का अर्थ है अपनी ओर से भगवान के चरणों की प्रपद प्रपद होता है पाँव का ऊपरी हिस्सा पंजा जिसको बोलते हैं और शरणागति होते है तलगत वैष्णव संप्रदायों में भी श्री वैष्णव संप्रदाय में प्रपत्ति और शरणागति को अलग अलग करके मानते हैं तो ये प्रपत्ति हुई प्रपन्नम और शिष्य से हम साध मैं तुम्हारा शिष्य हूँ मेरा शासन करो मुझे शिक्षा दो ठीक है प्रपत्ति तो हो गई बुद्धि के संबंध में प्रपत्ति हुई देखो सेना के संबंध में प्रपत्ति हुई अरण्य भरा और आश्रित कार्य निर्वाहकत्व के संबंध में हुई प्रवृत्ति सदैव होते और बुद्धि की शरणागति हुई शिष्य से साधुना वहां प्रबंधन परंतु इस शरणागति में भी कहीं त्रुटि है तो पूरी नहीं है पूरी क्यों नहीं है तो जब अगले श्लोक में अर्जुन बोलता है नजोत से यदि गोविंदम उठवा पूछने बहुगा मैं तुम्हारी शरण में और प्रबंध हूँ शिष्य मेरा शासन करो शिक्षा करो सब कुछ कहता परंतु न जोड़ते लड़ो अरे भाई ये क्या करना आपकी सब बात मानूंगा एक बात छोड़ मैंने एक बात के बारे में हम आपकी बुद्धि नहीं मानेंगे अपनी बुद्धि मानेंगे अर्थात अहंकार की जो शरणागति होनी चाहिए वो अभी नहीं और न जो क्रिया की भी शरणागति नहीं है क्योंकि अंत में अर्जुन ने कहा है करिष्य वचनम तव तो जब शरणागति पूर्ण होगी तब पूर्ण आज्ञा का पालन होगा अभी किंचित अहंकार जो है वो शेष है और जब हम शरणागति की दिशा में चलते हैं हम बड़े बड़े वक्ताओं को जानते हैं ज्ञानकर्ताओं को जानते हैं जो लोग कहते हैं कि बस तो गीता का भाव इतने है वे लोग भगवान की वाणी को बहुत ही संकीर्ण सीमा में एक दायरे में उसको जाता है हमारे भारतवादी मीमांसा दर्शन जो मीमांसा दर्शन अलग है भारतवादी अलग है वो मध्य मीमांसा के रूप में वो कहते हैं कि हम भगवान की वाणी को कैसे पहचाने कोई कहता है भगवान ने ऐसा कहा है भगवान ने ऐसा कहा है अब कोई भी मतवादी कोई भी पंथाई जोड़ देता है कि भगवान ने हमसे ऐसे कहा हमारे पास भगवान ये चिट्ठी भेजी है हम कैसे माने कि भगवान की बाणी है अभी नहीं बोले भाई भगवान की बाणी की एक पहचान है वो क्या पहचान है कि उनकी वाणी में जैसे वे सचित आनंद है अनंत जीवन अनंत ज्ञान और अनंत आनंद जैसे भगवान का स्वरूप है वो उनकी वाणी में एक एक अक्षर में एक एक पद में एक एक वाक्य में एक एक प्रकरण में एक एक अध्याय में वो प्रकट होता है यही पहचान है कि उनकी वाणी में सचित आनंद है वे सच्चिदानंद है तो बोलेंगे भी सच्चिदानंद दूसरी पहचान बताई कि उनकी वाणी ऐसी है सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी तीनों प्रकृति के जो लोग हैं सबके भले के लिए होंगे जिसमें सबके हित पर दृष्टि नहीं है केवल एक मजहब पर एक पंथ पर एक संप्रदाय पर एक व्यक्ति पर जहाँ दृष्टि है वो न भगवान की दृष्टि है और न भगवान की मानस ये गीता जो है ये भगवान की वाणी है और ऐसी है आपको व्यक्तिगत बात अच्छी लगे कि न लगे मालूम है मैंने गीता पढ़ी व्यक्तिगत रूप से पांच चार बजे बैठ सकते थे और एक के हाथ में शांकर घाट एक के हाथ में शंकरानंद जी एक के हाथ में मधुसूदनी एक के हाथ में ज्ञानेश्वरी एक के हाथ में लोकनाथ तिरस तब तक गीता पृथ्वी गीता प्रकाशित नहीं हुई थी जबकि की बात तत्व तो विवेचनी गीता को तो जब मैं गीता को जब लिखी गई तो हम लोग आपस में मिल के पढ़ते तो उस समय हम ऐसे सोचते हम ब्राह्मण हैं तो भगवान ने हमको क्या आज्ञा हम क्षत्रिय हैं तो क्या आज्ञा भविष्य है क्या सूत्र है तो क्या है तो यदि हम हाथी घोड़ा ऊँट है तो हमको भगवान ने क्या कहा हम गधे कर्मा निर्वाधिकारस से माँ प्रवेशु प्रदार्थना हाँ, उन्होंने कहा गधे हो तो क्या हो धोते अपना जो बोझ धोने का काम है आ, हाँ, उसको छोड़ो ना कर्मा निर्वाधिकारस से सारी गीता में एक स्थिति के साथ तादात्म्य करके गीता का गीता भगवती है हमारे अधिकार के हमारी योग्यता के हमको अर्थ बताया और बताती गई और बताती रहती है हमको प्रतिदिन उनका एक नई दिशा एक नया संदेश संकेत एक नया रहस्य बताते हैं और आपको आपको सुना प्रहसन निवर भारत समुवाद ऋषिकेश प्रहसन निवर भारत केवल घोड़ों की बात और उनके हाथ में नहीं है केवल क्रिया की बागडोर हाथ में नहीं है ऋषि के साथ संपूर्ण इंद्रियों की बागडोर श्री कृष्ण के हाथ में है वो अर्जुन के नर के जीव के संपूर्ण ज्ञान इच्छा क्रिया वस्तु शक्ति के स्वामी है प्रसन्न होगा अरे अर्जुन शिष्य तो बन गया प्रशासन के लिए आग्रह करता है और सात्विक कहता है कि मैं मरूंगा नहीं प्रसन्न हंसते हंसते नहीं अर्जुन रो रहा है रोते हुए के सामने खासा बात कहता कोई गले मानुष का काम तो नहीं है अर्जुन तो रो रहा है शोक संविघ्न का और शोकग्रस्त अर्जुन के सामने यदि भगवान प्रहसन भाषा मार के हंसने लगते वो तो उचित नहीं होता किसी से प्रहसन निव भारत भीतर से हंस रहे थे और बाहर से हंस हंस ले गए अशोकिया में करुणा करुणा उमड़ पड़ी भगवान के हृदय में और ये शरणागति ग्रंथ गीता जो है इसको हमारे दक्षिण विद्वान जो है श्री रामानुज संप्रदाय के वो शरणागति ग्रंथ के रूप में और वाल्मीकि रामायण को तो महाशरणागत ग्रंथ अच्छा आप धीरे धीरे आप